देखु विभीषण दक्षिण घन घनघमण्डदाय मेने मिल मधुर मधुर गर जय गनघोरायि वृष्टि जने उपल कठोरा कहत विभीषण सुनहु कृपा हो न तड़ी तन बारिद माना लंका शिखर उपर यागारा तह दस कंधर देख हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो विभीषण बोले हे कृपालु सुनिए यह न तो बिजली है न बादलों की घटा लंका की चोटी पर एक महल है दसग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है त्र घडम्बरशिरधारि सोई जनु जलद घटायति कारि मन्दोदरि श्रवणताटङ्का सोई मेरे दवङ्का बाजहिताल मृदंग सैरव मधुर सुनहु भूपा प्रभु मुस्कान समुझे अभिमान चाप चढ़ाए बाल संधान रावण ने सिर पर मेघ मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिर रहे हैं हे प्रभो वही मानो बिजली चमक रही है हे देवताओं के सम्राट सुनिए अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं वही मधुर गर्जन ध्वनि है रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया छत्र मुकुट ताटंक तब हते ये कहे बाण सबके देखत मही परे मरम उनको जान अस कौतुक कर राम शरण प्रभ से उवाय निशंग रावण सभा सशंक सब महारस भंग और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई कंपन भूमि न मरुत विषेखा अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा सोच ही सब निज हृदय मझारी अस गुण भयवो भयंकर भारी दस मुख देखे सभा भय पाए हसी बचन कह जुगति बनाए सिरव गिरे संतत शुभ जाहे मुकुट परे कस अस गुणताहे न भूकंप हुआ न बहुत जोर की हवा आंधी चली न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर पड़े सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपस्कुन हुआ सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपस्कुन कैसा शयन करहु निज निज गृह जाय गवने भवन सकल शिरनाय मन्दोदरी सोच जब जबते श्रवण पूर खसेऊ सजल नयन कह जुग कर जोरी चुनहु प्राण पति बिनती मोरी कंतराम विरोध परिहर हो जाने मनुज जने अठ मन धर हो अपने अपने घर जाकर सो रहो डरने की कोई बात नहीं है तब सब लोग सिर नवाकर घर गए जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए स्वरूप रघुवंश मने करहु बचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति अंग अंग प्रति जासु मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं